Thank you thank you Divya ji ये कंग्रेचुलेशन अरे क्या कर रही है क्या thank you thank you congratulation बड़े हो गए अगस्त बादशाह सब man congratulation thank you trailer hit गाने हिट सारे बट दिव्या भूषण जी ने एक भी गाना नहीं लिया मेरा फिल्म में यार बादशाह ये तुम्हारे टाइप की पिक्चर है ही नहीं हाँ। मेरे टाइप की मतलब सनम रेख प्योर लव स्टोरी है बाकियों में मिलावट होती है प्योर लव का क्या मतलब है वही जो तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगा हाँ, अरे यार अब तो फिल्म भी रैप होगी इसी बहाने कोई रैप सॉन्ग कर लेते हैं दिव्या सॉरी बादशाह आई डोंट थिंक इस बार तुम्हारा गाना हो पाएगा मैं तो कहती नेक्स्ट फिल्म में आप गाना करना और मैं बनूंगी आपकी आइटम गर्ल अक्कर पक्कर बम्बे पो अस्सी नब्बे पूरे सौ रात के बज गए पौने दो जो होता है होने दो अक्कर पक्कर बम्बे पो अस्सी नब्बे पूरे सौ रात के बज गए पौने दो जो होता है होने दो अक्कर पक्कर बम्बे पो अस्सी नब्बे पूरे सौ रात के बज गए पौने दो जो होता है होने दो अक्कर पूरे सौ रात के बज गए पौने दो जो होता है होने दो हॉली हॉली पी के बस फेंक दो तू ऐसे क्यों है डोली कुड़िया द गैंग ते मुंडिया भी कुछ होगा बट स्लोली स्लोली नाच नाच के थक गया हूँ दारू पी के अग गया हूँ मुझको नींद आ रही है साथ में अपने सुनने दो पकड़ पकड़ बम्बे दो अस्सी नब्बे पूरे सौ रात के बज गए पौने दो जो होता है होने दो अकड़ पकड़ बम्बे दो अस्सी नब्बे पूरे सौ रात के बज गए पौने दो कैंचे क्लब में आई हूँ बस पार्टी करने तू क्यों फालतू में हुआ फिरता है सेंटे चल हमें टाप ले तू रस्ता अपना नाप ले तू मीटर मेरा हिल गया तो कान के नीचे दूंगी दो पकड़ पकड़ बम्बे दो अस्सी नब्बे पूरे सौ रात के बज गए पौने दो जो होता है होने दो अकड़ पकड़ बम्बे दो अस्सी नब्बे पूरे सौ रात के बज गए पौने दो टाटा बाय बाय कर दे बेबी अब तू अपने बॉयफ्रेंड का अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो अस्सी नब्बे पूरे सौ टाटा बाय बाय कर दे बेबी अब तू अपने बॉयफ्रेंड का के बज गए पौने दो जो होता है होने दो